नोशो टॉक माटी कहे कुम्हार सुन नंबर वन से कोई जन्म से ही बीमार पैदा हो तो उसे स्वास्थ्य का कभी कोई पता नहीं चलता जैसे कोई जन्म से ही अंधा पैदा हो तो जगत में कहीं प्रकाश भी है इसका उसे कोई पता नहीं चलता ऐसे ही हम एक अद्भुत अनुभव से जन्म के साथ ही जैसे वंचित हो गए धीरे धीरे मनुष्य जाति को ये ख्याल भी भूलता गया है कि वैसा कोई अनुभव है ही उस अनुभव को इंगित करने वाले सब शब्द झूठे और थोथे मालूम पड़ने लगे हैं ईश्वर से ज्यादा आज कोई शब्द थोथा और व्यर्थ है धर्म से ज्यादा थोथा और व्यर्थ आज कोई शब्द है मंदिरों से ज्यादा अनावश्यक प्रार्थनाओं से ज्यादा व्यर्थ आज कोई और भाव दशा है मनुष्य के जीवन से सारा संबंध जैसे परमात्मा का समाप्त हो गया के कारण मनुष्य किस भांति जी रहा है किस चिंता में दुख में पीड़ा में परेशानी में उसका भी हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है और जब भी ये बात उठती है कि ईश्वर से मनुष्य का संबंध क्यों टूट गया है पशु पक्षी भी ज्यादा आनंदित मालूम होते हैं पौधों पर खिलने वाले फूल भी आदमी की आंखों से ज्यादा प्रफुल्लित मालूम होते हैं आकाश में उगे हुए चांद तारे भी समुद्र की लहरें भी हवाओं के झोंके भी आदमी से ज्यादा आह्लादित मालूम होते हैं आदमी को क्या हो गया है अकेला आदमी बड़े जगत में रुग्ण बीमार मालूम पड़ता है लेकिन अगर हम पूछें कि ऐसा क्यों हो गया है ईश्वर से संबंध क्यों टूट गया है तो जिन्हें हम धार्मिक कहते हैं वे कहेंगे नास्तिकों के कारण वैज्ञानिकों के कारण भौतिकवाद के कारण पश्चिम की शिक्षा के कारण ईश्वर से मनुष्य का संबंध टूट गया ये बातें एकदम ही झूठी है किसी नास्तिक की कोई सामर्थ्य नहीं कि मनुष्य का संबंध परमात्मा से तोड़ सके ये वैसा ही है और किसी भौतिकवादी की ये सामर्थ्य नहीं कि मनुष्य के जीवन से अध्यात्म को अलग कर सके किसी पश्चिम की कोई शक्ति नहीं कि उस दियो को बुझा सके जिसे हम धर्म कहते हैं ये वैसा ही है जैसे मेरे घर में अंधेरा हो और आप मुझसे पूछें आके कि दिए का क्या हुआ और मैं कहूं कि मैं क्या करूं दिया तो मैंने जलाया लेकिन अंधेरा आ गया और उसने दिए को बुझा दिया तो आप हंसेंगे और कहेंगे अंधेरे की क्या शक्ति है कि प्रकाश को बुझा दे अंधेरा आज तक कभी किसी प्रकाश को नहीं बुझाया मिट्टी के छोटे से दिए में भी उतनी ताकत है कि सारे जगत का अंधकार मिलकर भी उसे नहीं बुझा सकता हाँ दिया बुझ जाता है तो अंधेरा जरूर आ जाता है अंधेरे के आने से दिया नहीं बुझता दिया बुझ जाता है तो अंधेरा आ जाता है नास्तिकता के कारण धर्म का दिया नहीं बुझा धर्म का दिया बुझ गया इसलिए नास्तिकता आ गई है भौतिक बात के कारण अध्यात्म नहीं बुझ गया है अध्यात्म बुझा है इसलिए बात है फिर किन के कारण क्योंकि जब कोई ये कहता है कि नास्तिकता बात ये धर्म को मिटा रहे हैं तो वो पता नहीं है उसे कि वो धर्म को कमजोर और नास्तिकता को मजबूत कह रहा है उसे पता नहीं कि वो वो धर्म के पक्ष में नहीं बोल रहा है वो धर्म के विपक्ष में बोल रहा है वो ये स्वीकार कर रहा है कि अंधेरे की ताकतें ज्यादा बड़ी हैं उजाले की ताकतों से और अगर अंधेरे की ताकत बड़ी है और प्रकाश को बुझा सकती है तो स्मरण रखना फिर प्रकाश के जलने की दुनिया में कभी कोई संभावना नहीं क्योंकि अंधेरा हमेशा बुझा देगा आप जलाइए और अंधेरा बुझा देगा अगर नास्तिकता धर्म को मिटा सकती है तो धर्म के जन्म की अब कोई संभावना नहीं लेकिन मैं कहता हूं ये बात ही गलत ये दलील ही गलत ये तर्क ही झूठा है ये तर्क वैसा ही है जिससे भारत के लोग और तर्क भी देते हैं इसी सरणी में भारत के लोगों से पूछे हम अपने से पूछे हम कमजोर क्यों हो गए हम सारी जमीन पर विहीन क्यों हो गए तो हम फौरन कहेंगे मुसलमान आए उन्होंने हमें हराया और कमजोर किया अंग्रेज आए उन्होंने हमें गुलाम बनाया और कमजोर किया एक हजार साल की गुलामी की वजह से हम विहीन हो गए ये तर्क भी उतना ही झूठा है कोई गुलामी से कमजोर नहीं होता जो कमजोर होता है वो गुलाम जरूर हो जाता है तो गुलामी से कोई कमजोर होता है कमजोरी से जरूर गुलामी आ सकती है गुलामी से कोई दिनहीन होता है दिनहीन गुलाम हो सकता है लेकिन इन दलीलों में होशियारी है कमीने से की है इन दलीलों से हम अपने को बचा लेते हैं जुम्मा दूसरे पर थोप देते हैं दुनिया भर के धर्मगुरु और तथाकथित धार्मिक लोग जब भी नास्तिकों पर अधार्मिकों पर भौतिकवादियों पर ये जुम्मा थोप देते हैं कि तुम्हारे कारण जीवन नष्ट हो रहा है प्रकाश बुझ रहा है तब वे एक तरकीब काम में ला रहे हैं वो आपकी नजरें इस बात से हटाना चाहते हैं कि उनके कारण धार्मिकों के कारण धर्म गुरुओं के कारण धर्म पंथों के कारण ईसाइयों के कारण हिंदुओं के कारण मुसलमानों जैनों और बौद्धों के कारण धर्म का दिया बुझा है इस तथ्य को झुठला देने के लिए दूसरों पर दोष दिए जाते हैं और नास्तिकों का कहीं कोई संगठन नहीं है जो विरोध करे नास्तिकों का कहीं कोई शास्त्र नहीं नास्तिकों का कोई मंदिर नहीं जो विरोध करे भौतिकवादियों का कहीं कोई संप्रदाय नहीं जो विरोध करे तो ये बात चुपचाप स्वीकृत हो जाती है एक तरफा गवाही पर बात मान ली जाती है मैं आपसे आज की पहली चर्चा में ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर का संबंध मनुष्य से तोड़ने में जितना हाथ धर्म गुरुओं धर्म पुरोहितों मंदिरों मस्जिदों हिंदू मुसलमानों ईसाइयों और जैनों का है उतना किसी और का नहीं और अगर इस पृथ्वी को फिर से प्रभु से जुड़ना है तो कुछ चीजों से हाथ जोड़ लेने पड़ेंगे संप्रदायों से हाथ जोड़ लेना पड़ेंगे अगर धर्म का जन्म देखना चाहते और धर्म गुरु को विदा कर देना होगा अगर प्रभु के दर्शन की तरफ आंखें उठाना चाहते ये मैं क्यों कहता हूं ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी कोई प्रेम का व्यवसाय करेगा प्रेम का व्यवसाय पहली बात तो हो नहीं सकता प्रेम का कोई धंधा नहीं हो सकता है दुकान पर प्रेम खरीदने से नहीं मिल सकता लेकिन अगर कोई प्रेम की दुकान खोल ले और प्रेम बेचता हो तो आप समझ लेना कि धोखा दिया जा रहा है और अगर उस दुकान पर खरीदे गए प्रेम को आप प्रेम समझ लें तो ये भी समझ लेना कि जो प्रेम आपको उपलब्ध हो सकता था कभी उपलब्ध नहीं होगा अगर प्रेम का व्यवसाय नहीं हो सकता तो प्रार्थना का व्यवसाय कैसे हो सकता है प्रार्थना तो प्रेम का ही विराट रूप है अगर प्रेम नहीं मिल सकता बाजार में और दुकानों पर तो परमात्मा कैसे मिल सकता है लेकिन परमात्मा को बेचने वाली दुकानें हैं जिनको हम धर्म कहते हैं परमात्मा को बेचने वाली दुकानें हैं जिनको हम मंदिर मस्जिद शिवालय और गुरुद्वारे कहते हैं परमात्मा को बेचने वाले दुकानदार हैं जिनको हम धर्मगुरु पुरोहित पादरी और ये सब नाम देते हैं इन सारे लोगों ने आदमी और प्रभु के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है जिससे प्रभु से मिलन कठिन हो गया ये दीवार इन्होंने कैसे खड़ी कर दी ये दीवार बहुत होशियारी से खड़ी की गई इस दीवार की पहली ईट तो यह है कि दुनिया के सारे धर्मगुरु एक बात चिल्ला चिल्ला के थके नहीं है कि परमात्मा को पाना बहुत कठिन है सारी दुनिया में तीन हजार वर्ष से ये प्रचार किया जा रहा है कि परमात्मा को पाना अति दुर्लभ है बहुत कठिन है क्या आपको पता है कि इस बात ने ही आदमी और परमात्मा के बीच सबसे मजबूत पत्थर रख दिया है नहीं शायद आपके ख्याल में ना हो जिस बात को हजारों साल तक दोहराया जाए कि कठिन है वो इसी कारण कठिन हो जाती है कठिनाई का प्रचार मनुष्य के मन को पकड़ लेता है और उसे लगने लगता है कि मैं कैसे पा सकूंगा इतनी कठिन बात ये मेरी सामर्थ्य के बाहर ये मेरी शक्ति के बाहर ये मेरी सीमा के बाहर मैं एक छोटा सा मनुष्य मैं कैसे पा सकूंगा और जिसे हम पा ही नहीं सकते जन्म जन्मों की कोशिश के बाद भी उसे अगर हमने पाने का प्रयास छोड़ दिया हो तो कोई गलती की एक मनोवैज्ञानिक रूस में एक छोटा सा प्रयोग कर रहा था वो इस बात का पता लगाना चाहता था कि क्या कोई बात कठिन और कठिन और कठिन दोहराए जाने से कठिन हो जाती है विश्वविद्यालय की एक गणित की कक्षा के तीस विद्यार्थियों को उसने एक प्रयोग किया पंद्रह विद्यार्थियों को एक कमरे में ले गया पंद्रह को दूसरे कमरे में ले गया एक ही कक्षा के विद्यार्थी एक ही बुद्धि के एक ही बुद्धिमत्ता के पहले पंद्रह विद्यार्थियों के सामने उसने तख्ते पर एक गणित का सवाल लिखा और लिख के कहा कि ये सवाल मैं आशा नहीं करता हूं कि तुम में से कोई भी हल कर सकेगा ये बहुत कठिन ये इतना कठिन है कि जमीन पर मुश्किल से दस पांच गणितज्ञ हैं जो इसे हल कर सकते हैं तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं लेकिन तुम पूछोगे कि फिर तुम्हें हल करने को दिया क्यों जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है कि हम इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि क्या विश्वविद्यालय के इस कक्षा के वर्ग के विद्यार्थी इस सवाल को हल करने की दिशा में एकाध दो कदम भी ठीक उठा सकते हैं या नहीं पूरे सवाल के ठीक होने की तो कोई संभावना ही नहीं लेकिन अगर एक हाथ दो कदम भी तुम ठीक उठा लो ठीक दिशा में तो भी बड़े गौरव की बात होगी देखो कोशिश करो शायद एक आध व्यक्ति ठीक दिशा में एक आध दो कदम उठा सके सवाल बहुत कठिन है आशा कोई भी नहीं है तुमसे बड़ी कक्षा के विद्यार्थी भी असफल हो गए लेकिन शायद उन विद्यार्थियों ने जब ये बात सुनी तो उनके हाथ ढीले पड़ गए प्राणों में जो ऊर्जा उठती सवाल को हल करने के लिए वो सो गई जो शक्ति जगती और चुनौती को स्वीकार करती उसने पहले ही स्वीकार कर लिया कि हल नहीं हो सकता है जो बात हल नहीं हो सकती फिर प्राण उससे संघर्ष लेना बंद कर देते वे सवाल को मुर्दा उदास सुस्त हाथों से हल करने लग गए पहले से ही निश्चय है कि सवाल हल नहीं हो सकता पहले से ही परिणाम जाहिर है कि असफलता होनी है और जब पहले ही असफलता पता हो तो क्या सफलता की दिशा में आपके कर्मों में प्राण हो सकते हैं गति हो सकती शक्ति हो सकती वो सवाल को हल करने में लग गए हैं जानते हुए कि सवाल हल नहीं होगा और वो मनोवैज्ञानिक दूसरे पंद्रह विद्यार्थियों के पास गए तख्ते पर उसने वही सवाल लिख दिया है और उन विद्यार्थियों से कहा कि सवाल बहुत सरल है ये इतना सरल है कि तुमसे नीचे की कक्षाओं के विद्यार्थी इसे पूरा का पूरा हल कर लिए लेकिन तुम पूछोगे कि फिर हमें ये सवाल क्यों दिया जा रहा है जब इतना सरल कहा कि मैं कोई शोध कार्य कर रहा हूं और पता लगाना चाहता हूं कि क्या इस ऊंची कक्षा में एक आध भी ऐसा विद्यार्थी आ गया है जो इस सवाल को हल न कर सके हम उस विद्यार्थी का पता लगाना कि क्या हमारी परीक्षाओं को पार करके ऐसे विद्यार्थी भी आ जाते हैं कि इतना सवाल हल इतना सरल सवाल हल ना कर सके कोई भी नहीं असफल होगा तुमसे निजी कक्षाओं के विद्यार्थी सफल हो गए पूरा सवाल हल कर लिया सवाल बहुत सरल है वे पंद्रह विद्यार्थी भी सवाल हल करने में लग गए हैं लेकिन उनकी हालत बहुत जुदा और भिन्न वे जानते हैं कि सवाल हल होगा वे जानते हैं कि सवाल हल होना ही है वे जानते हैं कि नीचे की कक्षाओं में सवाल हल हो गया तो हम क्या हार जाएंगे इतना सरल सवाल है उनके प्राणों की ऊर्जा जग गई है और वो प्रफुल्लता से आनंद से सवाल हल करने में लग गए सवाल वही है और घंटे भर बाद जब उनका सवाल पूरा हो चुका है तो पहली कक्षा में जहां कहा गया था सवाल कठिन है केवल तीन विद्यार्थी सवाल हल कर पाए बारह विद्यार्थी असफल हो गए और दूसरी कक्षा में केवल एक विद्यार्थी असफल हुआ चौथा विद्यार्थी सफल हो गया सवाल वही था विद्यार्थी एक ही वर्ग के थे क्या हो गया एक भाव दशा निर्मित हो गई कि कठिन है एक भाव दशा निर्मित हो गई कि सरल है और जिस भाव दशा को लेकर हम पहला कदम रखते हैं उसी भाव दशा पर अंतिम कदम पूरा हो जाता है पांच हजार वर्षो का इतिहास ईश्वर को कठिन कठिन कठिन दोहरा रहा है फिर बात इतनी कठिन हो गई कि मनुष्य ने उस दिशा में देखना भी बंद कर दिया जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है वो हमारी आकांक्षा नहीं बन सकता है जो हमारी शक्ति के बाहर है वो हमारी अभीक्षा नहीं बन सकता है ठीक है कि कभी मंदिर में हम फूल चढ़ा दें ठीक है कि कभी किसी व्रत त्योहार पर उसका स्मरण कर दें लेकिन हमारी सामर्थ्य के बाहर है हमसे बहुत दूर जापान में कोई 300 वर्ष पहले एक छोटे से राज्य पर पड़ोस के बड़े राजा ने हमला बोल दिया है राजा बड़ा है हमलावर आक्रमक बहुत शक्तिशाली है कोई दस गुनी ताकत है उसके पास और राज्य छोटा है जिस पर हमला हुआ है बहुत गरीब है न सैनिक है न युद्ध का सामान है न सामग्री सेनापति घबरा के राजा से बोला है कि मेरी सामर्थ्य के बाहर है कि मैं युद्ध पर जाऊं कैसे जाऊं ये जानते हुए कि अपने सैनिकों की हत्या करवानी और हार निश्चित है मैं इंकार करता हूं मुझे क्षमा कर दे मैं इस युद्ध में नहीं जा सकूंगा कोई मौका ही नहीं जीतने का दस गुने सिपाही है दूसरी तरफ दस गुने युद्ध की सामग्री है आधुनिक उपाय है और हमारे पास कुछ भी नहीं हार निश्चित है इसलिए हार ही जाना उचित है व्यर्थ लोगों को कटवाने से क्या प्रयोजन राजा भी डर रहा है वो भी जानता है कि बात सच है सेनापति को कायर कहना उचित नहीं है उसने और युद्ध लड़े हैं आज पहली दफा वो इनकार कर रहा है और इनकार करने में कायरता नहीं काम कर रही सीधी बात है साफ गणित जैसी बात है दो दो चार जैसी बात है हार निश्चित है लेकिन राजा का मन नहीं मानता कि बिना हारे और हार जाए वो रात भर बेचैन रहा है सुबह उसने अपने वजीर को पूछा है क्या करना है दुश्मन रोज आगे बढ़े आते हैं उस वजीर ने कहा कि मैं एक फकीर को जानता हूँ जब भी मेरे जीवन में कोई उलझन आई है उसी के पास गया हूं और आज तक बिना सुझाव के वापस नहीं लौटा सुबह है आप चले चले पूछ लें उससे वे फकीर के दरवाजे पर पहुंच गए हैं सेनापति की साथ फकीर हंसने लगा उसने कहा कि छोड़ो इस सेनापति को छोड़ो क्योंकि जो जानने के पहले कहता है कि हार जाना निश्चित है उसकी जीत की तो कोई संभावना नहीं रहती मैं चला जाता हूं सेनापति की जगह सेनाओं को लेकर राजा और भी डरा सेनापति अनुभवी है अनेक युद्धों में लड़ा और जीता है ये फकीर जो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता है लेकिन फकीर ने कहा बेफिक्र रहो आठ दस दिन के भीतर हम जीत के वापस लौट आएंगे फकीर सेनाओं को लेकर रवाना हो पड़ा सेनाएं घबरा रही हैं उनके हाथ पैर कप रहे हैं सैनिकों के जब सेनापति इनकार कर दिया तो एक अजनबी अनुभवी नहीं है जो ऐसा फकीर लेकिन फकीर गीत गाते हुए चला जा रहा फिर वे उस नदी के पास पहुंच गए जिसको उस तरफ दुश्मन का डेरा है फकीर ने सैनिकों को एक मंदिर के पास रोका और कहा कि रुको दो क्षण को जरा मैं जाके मंदिर के देवता से पूछ लू कि हम जीतेंगे या हारेंगे मेरी हमेशा की ये आदत रही जब भी मुश्किल में पड़ा हूं इसी मंदिर के देवता से पूछ लेता हूं सैनिकों ने कहा लेकिन देवता ने कहा कैसे कहेगा हम कैसे समझेंगे कि क्या कहा देवता ने उसने कहा रास्ता है मंदिर को घेर के सभी खड़े हो गए हैं उस फकीर ने अपने खींचे से सोने का चमकता हुआ सिक्का निकाला है और कहा कि हे प्रभु अगर हम जीत के लौटते हो तो सिक्का सीधा गिरे अगर हम हार के लौटते हो तो सिक्का उल्टा गिरे सिक्कों को ऊपर फेंका है हवा में आकाश में सूरज की रोशनी में सोने का सिक्का चमक रहा है और सारे सैनिकों के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं श्वास बंद हो गई है अब ठगे हुए देख रहे हैं कि क्या होता है रुपया नीचे गिरा है सिक्का सीधा गिरा है फकीर ने कहा कि देख लो जीत निश्चित है सिक्का खीसे में रख लिया है और सैनिक एक नए उत्साह से एक नए जीवन से युद्ध में कूद पड़े हैं दस दिन बाद वे जीत के वापस लौट रहे हैं मंदिर के पास आके सैनिकों ने उस फकीर को कहा कि शायद आप भूल गए मंदिर के देवताओं को धन्यवाद तो दे रहे तो फकीर इसने लगा उसने कर रहने दो कोई खास जरूरत नहीं पर सैनिकों ने कहा कैसी आप बात करते हैं कम से कम अनुग्रह तो मान ले जिसने जीत का संदेश दिया उस फकीर ने कहा छोड़ो उस देवता का इसमें कोई संबंध नहीं धन्यवाद देना हो तो मुझे दे दो उन सैनिकों ने कहा तुम्हें उस वकील ने खींचे से सिक्का निकाला और इस सिक्के को देखो वो दोनों तरफ सीधा था वो सिक्का उल्टा था ही तो उसमें दोनों तरफ ही सीधा था उस फकीर ने कहा कि धन्यवाद देना हो तो मुझे दे दो देवता का इसमें कोई हाथ नहीं कैसे जीत कर लौट आए वे सिपाही क्या हो गया उनके प्राणों को क्या आप सोचते हैं कि इस फकीर के बिना भी वे जीत के लौट सकते थे क्या आप सोचते हैं कि अपने सेनापति के साथ वे जीत के लौट सकते थे क्या आप सोचते हैं कि इस सिक्के के बिना वे जीत के लौट सकते थे क्या आप सोचते हैं कि बिना इस आशा के और इस विश्वास के कि जीत निश्चित है जीत हो सकती थी लेकिन ईश्वर के संबंध में यही हो गया है उस फकीर का सिक्का दोनों तरफ सीधा था हमारा सिक्का दोनों तरफ उल्टा हो गया फेंकते हैं हमेशा हार दोनों तरफ उल्टा है और मैं आपसे कहता हूं कि दोनों तरफ जो उल्टा सिक्का है ये धर्म गुरुओं ने निर्मित किया है क्यों आप कहेंगे धर्म गुरुओं का इसमें क्या प्रयोजन हो सकता उन्हें क्या हित उन्हें क्या लाभ हो सकता है कि आदमी और ईश्वर में दूरी हो जाए अगर आपको थोड़े भी व्यवसाय के नियम ज्ञात है तो आपको समझ में आ जाएगा अगर परमात्मा आदमी को पाना बहुत सरल है तो धर्मगुरु की कोई भी जरूरत बीच में नहीं रह जाती अगर परमात्मा को पाना अति सरल है तो बीच के दलाल की कोई गुंजाइश कोई जरूरत नहीं रह जाती परमात्मा को पाना जितना कठिन है उतना ही बीच का मीडिएटर बीच का एजेंट बीच का दलाल बीच का व्यवसायी उपयोगी और जरूरी हो जाता परमात्मा को पाना कठिन है तो फिर बीच में गुरु जरूरी है क्योंकि उस कठिन को पाने के लिए गुरु के बिना ज्ञान कौन बताएगा रास्ता कौन बताएगा जो कठिन है उसको पाने का रास्ता भी दुर्गम है पहाड़ पर चढ़ने जैसा तलवार की धार पर चलने जैसा तो उसे बताने के लिए कोई चाहिए रास्ता कोई हाथ पकड़ के ले जाने के लिए चाहिए ईश्वर को कठिन बता के धर्मगुरु ने अपनी जरूरत निश्चित कर ली और ईश्वर जितना कठिन होता गया धर्मगुरु का व्यवसाय उतना ही फैलता चला गया बड़ा होता चला आज जमीन पर करोड़ करोड़ धर्मगुरु आदमी के इसी शोषण पर जी रहे सिर्फ कैथोलिक पुरोहितों की संख्या बारह लाख और दुनिया में 300 धर्म ये एक धर्म के पुरोहित हैं बारह लाख दुनिया में 300 धर्म 300 पंथ इन सब के अपने गुरु हैं अपने सन्यासी हैं अपने पुरोहित हैं अपने पंडित हैं और वे सब एक बात पर जीते हैं कि भगवान से मिलाने की तरकीब आपको भी बताते हैं हालांकि इन करोड़ करोड़ धर्म गुरुओं के कारण मनुष्य जाति परमात्मा से जुड़ नहीं पा रही है कठिन बताने में हित है फिर जो चीज जितनी कठिन हो उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है बाजार में जो चीज मिलनी मुश्किल हो जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है जो चीज मिलनी सरल हो जाए उसकी कीमत कर जाती है जो चीज बिल्कुल सुलभ मिलती है हम ख्याल ही भूल जाते हैं कि किसी कीमत की हवा की कोई कीमत हमें ख्याल नहीं पानी की कोई कीमत हमें ख्याल नहीं लेकिन रेगिस्तान में मरुस्थल में पानी की कीमत मालूम पड़ने लगती है और चांद पर जब यात्री यात्रा करेंगे तब हवा की कीमत मालूम पड़ेगी जो चीज जितनी सरल और सहज उपलब्ध होती है उसकी फिर कोई कीमत नहीं रह जाती उसका व्यवसाय नहीं किया जा सकता है धर्मगुरु व्यवसाय कर रहा है ईश्वर का बेच रहा है ईश्वर को स्वभाव का सीधे इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के सीधे नियम है कि ईश्वर कठिन न्यून बहुत मुश्किल हो इतना मुश्किल हो तो उसको उतने दाम हो जाते हैं एक राजा एक रात भटक गया है एक जंगल में सुबह ही सुबह एक गांव में पहुंचा है थका मांगा रात पर एक झोपड़े के सामने रुका है और उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है कुछ मिल जाए झोपड़े में कुछ भी नहीं कोई दो तीन अंडे पड़े हैं झोपड़े के मालिक ने वो दे दिए हैं राजा ने नाश्ता कर लिया है फिर उसे कहा कि धन्यवाद कितने पैसे हुए उस बूढ़े ने कहा ज्यादा नहीं सिर्फ सौ रूपये राजा ने कहा सौ रूपये दो तीन अंडों के मैंने बहुत कीमती चीजें खरीदी आज तक मेरी कल्पना में भी नहीं था कि अंडे इतने महंगे हो सकते आर एच सोरेयर हियर क्या इधर बहुत मुश्किल है अंडे का मिलना इतना मुश्किल वो बूढ़ा हंसने लगा उसने कहा कि नहीं aids are not rare sir but kings are इधर अंडे तो रोज मिलते हैं बहुत मिलते हैं लेकिन राजा बहुत मुश्किल से मिलते हैं उस राजा ने सौ रुपये दे दिए न्यूनता किसी भी चीज की उसके कीमत का मापदंड बन जाती है ईश्वर बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कभी कभी किसी को उपलब्ध होता है सब तो उससे वंचित रह जाते हैं तो फिर उसका मूल्य लिया जा सकता है यूरोप में मध्य युग में ईसाई पोप लोगों से लाखों रुपए लेता रहा स्वर्ग पहुंचाने के चिट्ठी लिख के देता रहा ईश्वर के नाम कब्र में चिट्ठी रखती जाती थी पता नहीं वो चिट्ठी कभी पहुंची कि नहीं और उसका क्या हुआ नार में लौटता है लेकिन वे कब्रें खोदी जाए तो वे चिट्ठियां अभी भी उन कब्रों में रखी हुई मिल जाएंगी तो ज्यादा होशियार है लाख रुपए लेता है इधर हमारे गांव के ब्राह्मण पंडित उतने होशियार नहीं एक मरी सी गाय लेके भी निपटारा कर देते हैं लेकिन नियम वही है बेचा जा रहा है स्वर्ग बेचा जा रहा है मोक्ष बेचा जा रहा है धर्म बेचा जा रहा है परमात्मा तो इसका कठिन होना बहुत जरूरी है इसलिए तीन चार हजार वर्षो से उसकी कठिनाई की रट लगाई जा रही है और उसका परिणाम यह हुआ कि आदमी ने इतने दिनों में स्वीकार कर लिया है कि कठिन है इस कठिनाई के निश्चित हो जाने के दो घातक परिणाम हुए पहला घातक परिणाम तो ये हुआ कि सीधे और सरल लोगों ने उस तरफ जाना बंद कर दिया विनम्र लोगों ने उस तरफ आंख उठानी बंद कर दी उन्होंने मान लिया कि यह हमारी ये हमारी क्षमता नहीं ये हमारी पात्रता नहीं विनम्र और सीधे साधे लोग ही पात्र हैं प्रभु को पाने के लेकिन इस गलत शिक्षण का परिणाम यह हुआ कि विनम्र और सीधे साधे लोगों ने उस तरफ आंख उठानी बंद कर दी और दूसरा घातक परिणाम यह हुआ कि इगोइस्ट और अहंकारी लोगों ने उस तरफ यात्रा करनी शुरू कर दी अहंकार का एक ही आनंद है कि जो कठिन हो उसको पाया जाए एवरेस्ट पे चढ़ा जाए इधर जूनागढ़ की पहाड़ी पे चढ़ने में क्या रखा हुआ है गौरी शंकर पर चढ़ना है क्यों क्या काम है गौरी शंकर पर क्या जरूरत है चढ़ने की गौरी शंकर पर आप नहीं लेकिन मैं पहला आदमी हूं इमेरी में हूँ पेंसिल में हूँ मैं वहां झंडा गाड़ता हूँ मेरे कदम पहली बार वहां पड़ते जहां किसी मनुष्य के कभी नहीं पड़े तो आदमी में जो अहंकारी है सबसे ज्यादा वो कठिन की तलाश में रहता है कि जो कठिन हो वो मैं करूं सरल की अपील उसके मन पर नहीं होती तो दुनिया भर के अहंकारी ईश्वर को पाने की दिशा में लग जाते हैं यही तो वजह है कि सन्यासियों से ज्यादा अहंकारी आदमी पाना कठिन मुश्किल राजनीतिक में भी विनम्रता हो सकती है लेकिन सन्यासी में असंभव क्यों कोई सन्यास की भूल है नहीं लेकिन अहंकारी उत्सुक होते हैं परमात्मा कठिन है इसलिए उसको पाने के लिए उनका अहंकार बिना परमात्मा को मुट्ठी में लिए नहीं मानने को राजी है धन से उनकी तृप्ति नहीं हो सकती दिल्ली के पद से उनकी तृप्ति नहीं हो सकती उन्हें अगर कोई चीज तृप्ति दे सकती तो वो ये कि परमात्मा भी उनकी मुट्ठी में हो तो ये जो अहंकार की अंतिम प्यास है ईश्वर कठिन है तो अहंकार उस तरफ दौड़ने लगा और आश्चर्य है कि अहंकार और परमात्मा का मिलन कभी भी नहीं हो सकता है विनम्रता तो परमात्मा को पा सकती है अहंकार कभी भी नहीं लेकिन विनम्र तो थक गए और हार गए और चुप हो गए और अहंकारी त्वरित वेग से परमात्मा की तरफ अपने अपने अहंकार के घोड़ों पर सवार होकर दौड़ने लगे तो दुनिया में एक दुर्घटना घट गई कि अहंकारी धार्मिक हुए चले जा रहे हैं विनम्र सीधे साधे लोग चुपचाप मंदिरों के बाहर खड़े उन्होंने आशा छोड़ दी और जिन्हें नहीं मिल सकता वे उस दिशा में अग्रसर हो गए धर्म की हत्या का मूल कारण ईश्वर की कठिनाई का उपदेश ये पहला सूत्र मैं आज आपसे कहना चाहता हूं और अगर आपके जीवन में कभी भी ईश्वर को आने देना हो तो इस बात को बहुत ठीक से अपने मन में बिठा लेना कि ईश्वर को पाने से ज्यादा सरल और कोई बात नहीं कि ईश्वर अत्यधिक सरल है सरलतम है अंतिम रूप से सरल है उससे ज्यादा सरल और कोई बात नहीं है क्यों क्यों मैं कह रहा हूं कि ईश्वर को पाने से ज्यादा सरल कोई बात नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं मछली अगर पूछने लगे कि सागर कहां है मैं उसे पाना चाहती हूं तो हम मछली से क्या करेंगे हम कहेंगे सागर कहां है ये पूछने का सवाल नहीं तुम हो और तुम बिना सागर के नहीं हो सकती हो तुम्हारा होना हमेशा सागर में होना है तुम जहां हो वहीं सागर है तुम सागर से निर्मित होती हो सागर ही तुम हो और सागर में ही विलीन हो जाती हो मछली के लिए सागर जितना सरल है मनुष्य के लिए परमात्मा भी उतना ही सरल है क्योंकि परमात्मा का क्या अर्थ होता है परमात्मा का अर्थ होता है जीवन धारा परमात्मा का अर्थ होता है वो जो जीवन जो प्राण जो चेतना वो जो सब में व्याप्त है वही तो उसके बिना तो हम एक क्षण नहीं हो सकते हम परमात्मा में ही जीते उसी के सागर में लहर की तरह पैदा होते और विलीन हो जाते तो जिससे हम निर्मित होते हैं जिसमें हम जीते हैं जिसमें हम मिटते हैं उसे पाना कठिन हो सकता है उसे खोना कठिन हो सकता है पाना कैसे कठिन हो सकता है मछली सागर को खोना चाहे तो कठिनाई शुरू होगी मछली सागर को खोना चाहे तो कठिनाई शुरू होगी पाने के लिए कौन सी कठिनाई पाया ही हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ईश्वर को खोना कठिन है पाना नहीं और हम जो इतनी कठिनाई में पड़ गई है सारी मनुष्य जाति वो इसलिए कि हम ईश्वर को खोने की कोशिश कर रहे हैं ये जो मनुष्य इतना उजड़ा विजड़ित इतना विपन्न इतना हीन इतना चिंतित इतना दुख भरा दिखाई पड़ता है ये किस लिए ये इसलिए कि हम ईश्वर को खोने की कोशिश कर रहे हैं मछली सागर को खोने की कोशिश कर रही सागर से दूर हटने की कोशिश कर रही तो विपन्न होती जा रही है उसके प्राण तड़फड़ा रहे हैं वो फड़क रही है किनारे पर धूप में उसके प्राण कप रहे हैं वो मरने के करीब खड़ी हो गई आदमी भी करीब करीब उस हालत में है ये ईश्वर को खोने की कठिनाई है जो हम भोग रहे हैं लेकिन ईश्वर को पाना तो बहुत ही सरल है इसलिए सरल है कि हम उसे पाए ही हुए हैं उसे हमने एक क्षण को खोया नहीं हम एक क्षण को उससे अलग नहीं हुए हम एक क्षण को भी उसके बिना जी नहीं सकते श्वास नहीं ले सकते लेकिन कल्पना में और विचार में हम उससे अलग हो गए ख्याल में हम उससे अलग हो गए वैसे ही जैसे एक आदमी आज जूनागढ़ में सो जाए रात रात सपना देखे कि जूनागढ़ में नहीं है कलकत्ते में है देख सकता है सपना कलकत्ते में होने का हालांकि सपना देखने से कलकत्ता पहुंच नहीं जाता लेकिन सपना देख सकता है कि कलकत्ते में सुबह उठ के पूछने लगे कि मैं कलकत्ते से वापस कैसे आया तो लोग हंसेंगे कहेंगे तुम यही सोए रहे हो रात भर कलकत्ते तुम गए लेकिन वो कहेगा मैं कलकत्ते में था मौजूद था कलकत्ते में मैं लौटा कैसे जिस दिन आदमी ईश्वर को वापस उपलब्ध करता है ऐसी ही हंसी आती है उससे कि जिसे कभी खोया नहीं था उसको खोया कैसे था जिससे कभी दूर नहीं गए थे उससे दूर कैसे चले गए थे कल्पना में सपने में सोने में नींद आदमी मूलतः ईश्वर से एक क्षण को दूर नहीं हो सकता क्योंकि जिससे दूर हुआ जा सकता है वो ईश्वर ही ना रहा उससे हम दूर हो सकते हैं जो हमारे प्राणों से अलग हो भिन्न हो पृथक हो आप अपने घर को छोड़ के भाग सकते हैं पत्नी को छोड़कर भाग सकते हैं बच्चे को छोड़कर भाग सकते हैं गांव को छोड़कर भाग सकते हैं अपने को छोड़कर कैसे भाग सकते हैं और कहां भागेंगे जहां जाएंगे पाएंगे कि सांस मौजूद हो गए अपने को छोड़कर कोई भी नहीं भाग सकता परमात्मा हमारा स्वभाव है उसे छोड़कर हम नहीं भाग सकते छोड़ने की कोशिश कठिनाई पैदा कर देती है मैं आपसे कहना चाहता हूं ईश्वर सरल है अत्यंत सरल है खोना कठिन है उसे पाना बिल्कुल सरल है ये पहला सूत्र जिस हृदय में गहराई से बैठ जाता है ईश्वर को पाना सरल उसकी आधी मंजिल पूरी हो गई बिना चले उसकी आधी मंजिल पूरी हो गई बिना चले बाह्य यात्रा हो गई प्राण उसके तैयार हो गए यात्रा पर जाने के लिए उसके चित्त ने तैयारी कर ली यात्रा तो बहुत सरल है एक बार हृदय की पूरी तैयारी चाहिए तो इन तीन दिनों में उस हृदय की पूरी तैयारी के संबंध में जो सूत्र मुझे आपसे कहने पहला सूत्र ये कि प्रभु को पाना अत्यंत सरल है उससे ज्यादा सरल और कुछ भी नहीं जैसे बीज के लिए सबसे सरल बात क्या है बीज के लिए सबसे सरल बात क्या है बीज के लिए सबसे सरल बात यह है कि वो अंकुर बन जाए इससे ज्यादा सरल बात और कोई भी नहीं बीज के लिए कठिनाई होती होगी तो यही होती होगी कि अगर वो बीज ही रह जाए और उसमें अंकुर न फूट सके और पंखुड़िया न निकल सके और फूल न निकल सके ये बीज की कठिनाई होगी कि बीज न फूट पाए न बन पाए पौधा जो बनने को पैदा हुआ है आदमी के लिए सबसे सरल क्या है यही कि वो प्रभु हो जाए वो उसके भीतर छिपी हुई संभावना है उसका बीज है आदमी एक बीज है और परमात्मा उसका प्रकट रूप है जो उसमें छिपा है वो प्रकट हो जाए फूल बन जाए अंकुर निकल आए पौधा बड़ा हो जाए लेकिन हम सब बीज ही रह जाते हैं इसलिए हमारा जीवन एक कठिनाई तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सरल है आप कहेंगे इतना कह लेने से मान लेने से भी कुछ सरल नहीं हो जाता कुछ भी सरल नहीं हो जाता नहीं सरल हो जाता है इस भूमिका पर फिर आगे कुछ काम किया जा सकता है इस भूमिका पर आगे फिर कदम रखे जा सकते हैं इसलिए इस पहली चर्चा में इस भूमिका के संबंध में आपसे कह रहा हूं तक उसकी कठिनाई को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत प्रकार के रास्ते अपनाए गए हैं एक रास्ता यह अपनाया गया है कि उसे पाना हो उसे पाना हो तो किसी संगठन के हिस्से होना चाहिए किसी संप्रदाय का सदस्य होना चाहिए किसी भीड़ के साथ खड़े होना चाहिए चाहे वो हिंदुओं की भीड़ हो चाहे मुसलमानों की चाहे ईसाइयों की चाहे जैनों की एक एक आदमी को किसी भीड़ के साथ खड़ा होना चाहिए तब वो प्रभु को पा सकता है ये बात बिल्कुल झूठ और असत्य है भीड़ से प्रभु का क्या संबंध प्रभु से संबंध हमेशा व्यक्ति का होता है अकेली निजता में होता है अकेलेपन में होता है एकांत में होता है भीड़ से क्या लेना देना है भीड़ कभी प्रभु के साक्षात को उपलब्ध हुई है प्रभु का साक्षात भी कोई युद्ध तो नहीं है कि वहां सेना बना के पहुंच जाए भीड़ लेकर पहुंच जाए वहां तो अकेले आदमी को जाना पड़ता है अकेले को लेकर क्राइस्ट को कब मिलता है परमात्मा अकेले में एकांत मोहम्मद को कब मिलता है अकेले में एकांत महावीर को कब मिलता है अकेले में एकांत बुद्ध को कब मिलता है अकेले में तो एकांत आज तक कभी तो भीड़ ने परमात्मा का साक्षात किया है आज तक दुनिया की कोई भी भीड़ कभी परमात्मा के सामने उपस्थित हो सकी उसके सामने तो एनकाउंटर जो है साक्षात्कार जो वो हमेशा व्यक्तिगत है एक व्यक्ति का सीधा लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि बिना हिंदू हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता बिना मुसलमान हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता और मैं आपसे कहता हूं कि जब तक कोई हिंदू है जब तक कोई मुसलमान है तब तक उसके धार्मिक होने की कोई संभावना नहीं यही तो वजह है कि धर्मों के नाम पर इतना अधर्म हो सका आपको पता है अधार्मिक लोगों ने किन मंदिरों को जलाया किन मस्जिदों में आग लगाई अधार्मिक लोगों ने किन बच्चों की हत्याएं की और किन स्त्रियों की इज्जत लूटी अधार्मिक लोगों ने क्या किया है दुनिया अगर किसी दिन अधार्मिक लोगों के सब पाप इकट्ठे किए गए और तथा कथित धार्मिकों के तो आप दंग रह जाएंगे धार्मिकों के पल्ले पाप का इतना बड़ा पल्ला भारी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये कैसे हो सका धार्मिक आदमी आग कैसे लगा सका हत्या कैसे कर सका खून कैसे कर सका वो धार्मिक ही नहीं था धर्म के नाम पर एक गलत की बात उसे सिखाई गई असली धर्म जो मैं कह रहा हूं कि प्रभु की सरलता का धर्म व्यक्ति को अकेलापन सिखाएगा नकली धर्म झूठा धर्म ईश्वर की कठिनता का धर्म व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा होना सिखाएगा और जो आदमी भीड़ का जितना हिस्सा हो जाएगा उतना ही ईश्वर को पाना कठिन हो जाएगा क्योंकि भीड़ कभी ईश्वर तक जाती ही नहीं कभी गई ही नहीं कभी जा भी नहीं सकती सुनी है कोई घटना कि 10-25 लोग सीधे परमात्मा के दर्शन को उपलब्ध हो गए एक अकेला आदमी अपने एकांत में टोटल लोनलीनेस में उपलब्ध होता है उस उस स्थिति को जाता है ईश्वर को कठिन बनाने के लिए जो तरकीबें काम में लाई गई उसमें पहली तरकीब यह है कि धर्म को भीड़ के साथ जोड़ दिया गया जो बिल्कुल ही गलत बात है धर्म निजी और व्यक्तिगत है इंडिविजुअल है उसका ऑर्गेनाइजेशन से संप्रदाय से पंथ से कोई दूर का भी संबंध नहीं इसलिए दुनिया में हिंदू है मुसलमान है ईसाई है जैन है बौद्ध है पारसी है और न मालूम कितने रोग हैं कितनी बीमारियां हैं कितने नाम हैं लेकिन धार्मिक आदमी कहीं भी नहीं तो अगर परमात्मा की तरफ सरलता का अनुभव करना है तो पहली बात यह है इस बात को समझ लेना ठीक से कि वो अकेले का साक्षात है वहां आपका निजी मित्र भी आपके साथ नहीं जा सकता आपकी पत्नी भी नहीं जा सकती आपका बेटा भी नहीं जा सकता आपके पड़ोसी भी नहीं जा सकते जब भी आप जाएंगे तो आप अकेले जब भी आप खड़े होंगे तो अकेले जीवन के सारे गहरे अनुभव अकेले आदमी के अनुभव में भीड़ से उनका कोई संबंध नहीं अभी हम यहां इतने लोग बैठे अगर हमें हत्या करनी हो तो अकेले आदमी को हत्या करने में बड़ी कठिनाई होती भीड़ को बहुत आसानी होती लेकिन लोग में बैठे हमें कहीं आग लगानी हो तो अकेले आदमी को आग लगानी बहुत मुश्किल होती है भीड़ को बहुत आसान होती है क्यों बुरा काम भीड़ के लिए हमेशा आसान होता है क्यों क्योंकि भीड़ में एक एक आदमी की अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता हम इतने लोग जाके मकान में आग लगा कोई मुझसे नहीं कह सकता कि तुमने मकान में आग लगाई आप में से कोई से कोई नहीं कह सकता आप कहेंगे भीड़ ने आग लगाई मैं तो सांप था सिर्फ आपके भीतर अंतकरण को कोई चोट नहीं लगती आप सिर्फ एक बड़ी भीड़ के हिस्से हैं लेकिन आप अकेले खड़े हो जाएं उसी मकान के सामने जिसमें आपने भीड़ के साथ जाके आग लगाई थी और अकेले आग लगाने की कोशिश करें आप तो सारे प्राण इंकार करेंगे आप 25 बार सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं ये करना ठीक है या नहीं पाप के लिए भीड़ बड़ी जरूरी है लेकिन पुण्य के लिए बिल्कुल गैर जरूरी है अगर आपको प्रेम करना है तो आप संगठन करते हैं पहले भीड़ इकट्ठी करते हैं हम प्रेम करने जा रहे हैं आइए भीड़ इकट्ठी करें फिर हम प्रेम करें प्रेम अकेला आदमी करता है आपको एक काव्य निर्मित करना है तो आप भीड़ इकट्ठी करते हैं कि चलो हम कविता करें काव्य अकेले का अनुभव है जीवन के जो भी श्रेष्ठ अनुभव हैं वो अकेले के अनुभव हैं जीवन के जो भी निकृष्ट अनुभव हैं वो भीड़ के अनुभव क्राउड भीड़ दुनिया में बड़ी खतरनाक घटना है लेकिन धर्म भीड़ के साथ जुड़ गया इसलिए परमात्मा तक पहुंचना कठिन हो गया धार्मिक व्यक्ति को जिसे प्रभु की सरलता की दिशा में जाना है ये बात स्मरण रख लेनी चाहिए कि ये अकेले की यात्रा है एक एक फकीर था एक हार्ट वो कहा करता था flight of the alone to the alone अकेले की उड़ान अकेले की तरफ यहाँ कहीं कोई किसी का साथी नहीं वो एक हार्ट एक जंगल में बैठा था एक झाड़ के नीचे अकेले की उड़ान कर रहा होगा अकेले में उड़ रहा होगा अकेले की तरफ कि कुछ मित्र शहर से गए थे जंगल शिकार खेलने वो वहां पहुंच गया उन्होंने देखा कि बेचारा एक हार जो हमेशा भीड़ में रहते हैं वो अकेले में रहने वाले आदमी को समझते हैं बेचारा असलियत उल्टी है जो अकेले में जीना जान जाता है वो भीड़ को सोचता है बेचारा लेकिन उन मित्रों ने सोचा बेचारा एक हाथ अकेला बैठा है ऊब गया होगा घबरा गया होगा जो लोग भीड़ में रहते हैं वो सोचते हैं अकेले में ऊप पैदा होती है उन्हें पता ही नहीं है कि अकेले में आनंद पैदा होता है भीड़ हमेशा उबाने वाली है लेकिन अनुभव न होने से ख्याल में नहीं आता वो इकाहट के पास गए सोचा चलो कंपनी दे दें उसे थोड़ा साथ दे दें वो आंख बंद किए बैठा है वो न मालूम किस लोग में उड़ गए हैं उसके प्राण उन्होंने उसे हिलाया और उसने आंख खोली उन्होंने कहा करे एक हार्ट अकेले बैठे बैठे ऊब गए हो गए हमने सोचा कि चलो सांस थे एक हार्ट खूब हंसने लगा उसने कहा ये तो बहुत मजाक हो गई मैं अकेला था तो अकेला नहीं था उससे मेरा मिलन हो रहा था और तुमने आके मेरी आंख क्या खोल दी मुझे फिर अकेला कर दिया एक हार्ट ने कहा कि मैं अकेला था तब अकेला नहीं था उससे मेरा मिलन हो रहा था और तुमने सांस क्या दिया मुझे फिर अकेला कर दिया तुम अपने रास्ते पर जाओ एक बाहर का मिलन भी है और एक भीतर का भी बाहर का सब मिलन भीड़ से मिलन है भीतर का सम्मेलन परमात्मा से ईश्वर कठिन हो गया क्योंकि हमने भीड़ से धर्म को जोड़ दिया धर्म इसेंशियली मूलतः सारभूत वैयक्तिक है भीड़ से उसका कोई नाता नहीं कोई भी दूर का भी नाता नहीं इसलिए अगर आपको धार्मिक होना हो तो ये अकेले की खोज है इसमें आपके हिंदू मुसलमान होने की कोई भी जरूरत नहीं कोई भी सवाल नहीं जिस दिन पृथ्वी पर धर्म होगा उस दिन धार्मिक लोग होंगे अधार्मिक लोग होंगे लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं हो सकते इनकी कोई भी जरूरत नहीं ये बिल्कुल अनावश्यक है ये बाधा बनी हुई है दूसरी बात जिन लोगों ने कठिन किया धर्म को उन्होंने परमात्मा की तरफ से आंख हटा के सब्सिट्यूट पर लगा दी कुछ पूरक चीजों पर लगा दी और सबसे बड़ी होशियारी की बात यह होती है कि अगर किसी चीज से आंख हटानी हो तो किसी दूसरी चीज पर खड़ी कर दो मुल्क अगर मर रहा हो भूखा गरीबी बढ़ रही हो संख्या बढ़ रही हो और दो चार दस साल में ऐसी महामारी आने को हो कि मुल्क को बचाना मुश्किल हो जाए तो इस तरफ से आंख फेरनी हो तो गौ हत्या आंदोलन चला दो कि गौ बचनी चाहिए बस डायवर्सन हुआ दिमाग का लोगों का उनके ख्याल से मिट गई असली समस्या और एक सूड प्रॉब्लम एक झूठी समस्या सामने खड़ी हो गई कि गौ मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए जबकि आदमी मरने के करीब पहुंच रहा हो तब तब एक एक नकली समस्या पर लोगों की नजर ले जाओ हमेशा दुनिया के शोषक ये कोशिश करते रहे कि जिंदगी की असली मसलत हटा लो लोगों की आंखें ईश्वर से आंख हटाने के लिए क्या तरकीब काम में लाई गई मंदिर खड़े किए गए मस्जिदें खड़ी की गई कहे कि ये भगवान के घर है इनमें आओ मस्जिद भगवान का घर मंदिर भगवान का घर आदमी के बनाए हुए मकान भी भगवान के घर हो सकते हैं तब तो आदमी भगवान से भी बड़ा हो गया और पत्थर की मूर्तियां रख दी गई हैं और वो भगवान आदमी की बनाई हुई मूर्तियां भगवान हो सकती तो छोड़ो पुरानी बात कहने की वो सृष्टा है कहो कि हम सृष्टा हैं और हमने भगवान को बनाया असली जीवन जहां था वहां से आंख हटा के नकली सवालों पर खड़ी कर दी गई कि यहां भगवान है इन पर लड़ो इनकी पूजा करो एक निगरो एक रात एक चर्च के दरवाजे को खटखटा रहा है अंधेरी रात है और वो काला आदमी द्वार पे खड़ा है और दरवाजा ठोक रहा है फिर द्वार पादरी ने खोला देखा कि काला आदमी खड़ा है वो चर्च तो सफेद लोगों का मंदिर था वो चर्च तो चमड़ी सफेद चमड़ी वालों की थी अब बड़े मजे की बात मंदिर में भी चमड़ी पहचानी जाती है कि कौन सी है हिंदू की है कि मुसलमान सूद्र शूद्र की है कि ब्राह्मण की वो निग्रो था और वो अंग्रेजों का मंदिर था पादरी क्रोध से जल उठा होगा इस मूढ़ ने आधी रात नींद खराब की वहां मंदिर के दोनों दरवाजों पर रोक खड़ा हो गया और उसने कहा कैसे आए हो क्या चाहते हो उस काले आदमी ने कहा और कुछ भी नहीं आप रास्ते से हट जाए और मुझे मंदिर में आने दिन प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं उस पादरी ने कहा इतना आसान नहीं है प्रभु का दर्शन जाओ पहले हृदय को शांत करो मन को पवित्र करो प्राणों को प्रार्थना से भरो तब तब प्रभु के दर्शन होते और द्वार उसने बंद कर लिए निग्रो उतर के चला गया उस पादरी ने सोचा कि न कभी ये शर्त पूरी कर सकेगा कि हृदय पवित्र करके आ जाए मन शांत कर ले न दोबारा आएगा न मंदिर के न मंदिर अपवित्र होगा इसके अपवित्र चरणों से बड़े मजे की बात है कि पवित्र भगवान का मंदिर अपवित्र आदमी के घुसने से अपवित्र हो जाता है होना तो उल्टा चाहिए था कि अपवित्र आदमी पवित्र मंदिर में पहुंच जाए तो पवित्र हो जाए लेकिन होता यह है कि खुद भगवान ही अपवित्र हो जाते हैं ये अपवित्र आदमी बहुत मजबूत है भगवान बहुत कमजोर और इम्पोर्टेंट मालूम होते हैं कोई बल नहीं मालूम होता उनमें एक अपवित्र आदमी चला गया और भगवान ही अपवित्र हो गया मंदिर ही अपवित्र हो गया ऐसे कमजोर मंदिरों से धर्म कैसे आ सकेगा ऐसे मंदिर चाहिए जहां अपवित्र घुसे और पवित्र होकर वापस लौट आए उसको यह मंदिर कह सकते हैं इसको कैसे मंदिर कह लेकिन आदमी की बनाई हुई कोई चीज ऐसा मंदिर नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि आदमी जो भी बनाएगा वो आदमी से छोटा होगा आदमी से बड़ा नहीं हो सकता आदमी की बनाई कोई चीज आदमी से बड़ी नहीं हो सकती असल में सृष्टि कभी भी सृष्टा से बड़ी न हुई है न हो सकती है फिर निग्रो वापिस लौट गया पादरी निश्चिंत सो गया फिर वर्ष बीत गई दो चार बार ख्याल भी आया कि वो आया नहीं लेकिन नहीं वो नहीं आया तो उसने सोचा कि ठीक है मेरी तर्क काम कर गई लेकिन एक साल बीता था कि वो आदमी आ गया वर्ष का पहला दिन पहली तारीख का वो आदमी सुबह सुबह चला आ रहा है रोहित ने देखा और वो घबरा आया है घबराने का ये भी कारण है कि वो चर्च की तरफ आ ही नहीं रहा है उसके आने से लग रहा है कि शर्त पूरी हो गई उसकी आंखें ऐसी शांत मालूम हो रही जिससे कोई झील हो उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी ऐसी किरणें मालूम हो रही जिससे जैसे कोई ज्योति हो उसके चलने में ऐसा लग रहा है जिससे कोई आदमी नहीं कोई देवता चलता हो वो पुरोहित घबराया शायद शर्त पूरी हो गई वो भागा कि दरवाजा बंद करे लेकिन दरवाजा बंद करना व्यर्थ था उस आदमी ने तो चर्च की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखा वो तो आगे बढ़ गया तो पुरोहित हैरान हो गया शर्त भी पूरी हो गई मालूम होती फिर आयो क्यों नहीं तो वो गया दौड़ा जाके उस आदमी को रोका और कहा मेरे दोस्त आप आए नहीं वो नीग्रो खूब हंसने लगा उसने कहा बड़ी मजाक हो गई मैं तो आने को था और एक वर्ष इसी मंदिर में आने की कामना में सब सब कुछ छोड़कर उसका ही स्मरण किया उसके लिए ही रोया उसके लिए ही जगा और सोया सपने में वो था जागने में वो था मन को पवित्र करने की सब कोशिश की और कल धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि आ गई वो घड़ी मन शांत हो गया है शायद अब मैं जा सकूंगा रात जब सोया था तो मन बिल्कुल निर्विकार था और मैं खुश था कि सुबह उठते ही वर्ष के पहले दिन मंदिर में प्रवेश कर जाऊंगा लेकिन रात सब गड़बड़ हो गया वो भगवान मुझे रात दिखाई पड़े सपने में और कहने लगे तू चाहता क्या है किस लिए प्रार्थनाएं कर रहा है किस लिए साधना कर रहा है किस लिए आंसू बहा रहा है तू चाहता क्या है बोल मैं पूरा कर दू तो मैंने उनसे कहा कुछ और नहीं चाहता वो जो गांव का मंदिर है उसमें प्रवेश चाहता हूं वे भगवान एकदम उदास हो गए और कहने लगे इस बात को छोड़कर तू और कुछ भी वरदान मांग ले तो मैं बहुत कहने लगा इतनी छोटी सी बात आप पूरी नहीं करेंगे वे कहने लगे इसको छोड़ दो कुछ और मांग ले मैंने बार बार कहा तो वो कहने लगे तू नहीं मानता तो मैं बता देता हूँ दस साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ उस मंदिर में घुसने तो पादरी मुझको नहीं घुसने देता तो तुझे कैसे घुसने देता ये मेरे बस के बाहर मैं तुझे तो उस मंदिर में नहीं ले जा सकता हूँ तो उस आदमी ने कहा इसलिए मैं नहीं आया जहां भगवान को ही प्रवेश नहीं वहां मुझे क्या प्रवेश हो सकता ही पता नहीं कहानी कहां तक सच है या कहां तक झूठ लेकिन इतिहास यही कहता है कि ये कहानी सच होनी चाहिए इतिहास तो यही कहता है कि आज तक किसी मंदिर में भगवान को प्रवेश नहीं मिल सका न मिल सकेगा हम तो भगवान में प्रविष्ट हो सकते हैं हम तो उस तक जा सकते हैं बूंद सागर में जाके गिर सकती है लेकिन सागर बूंद तक कैसे आए सागर कैसे बूंद को खोजे कैसे बूंद तक आए हम अपनी बूंद लिए बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं कि सागर बूंद में आ जाए एक ही रास्ता है कि बूंद सागर में चली जाए आदमी परमात्मा में प्रवेश पा सकता है दूध है सागर में डूब सकती है लेकिन आदमी अपनी मूर्तियां अपनी मस्जिद अपने मंदिर बना के बैठा और कह रहा है कि भगवान यहां आ बूंद में हम सागर को बुला रहे तो असफल हो गए भगवान नहीं आया तो हमें लग रहा है कि बहुत कठिनाई हो गई है भगवान पाना बहुत कठिन भगवान को पाना कठिन नहीं है मूर्तापूर्ण काम कर रहे हैं इसलिए बात कठिन हो गई है बूंद में सागर को बुला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं भगवान को पाना बहुत कठिन भगवान को पाना उतनी सरल है कि बूंद सागर में गिर जाए आदमी की बनाई हुई चीजों में भगवान को लाना कठिन असंभव क्योंकि आदमी जो बनाएगा वो इतना छोटा होगा कि उस विराट को उस आनंद को उसमें कैसे लाया जा सकता कोई मंदिर इतना बड़ा नहीं कोई मस्जिद इतनी बड़ी नहीं कोई शास्त्र इतना बड़ा नहीं कोई संप्रदाय इतना बड़ा नहीं कि अनंत को और अनादि को समा अपने में लेकिन उन सबका दावा यही है कि हमारी किताब में भगवान है हमारे मंदिर में भगवान हमारी मूर्ति में भगवान इन दावेदारों ने धर्म की हत्या कर दी कोई दावा नहीं हो सकता अगर वो है तो सब जगह है और अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं अगर वो है तो फूल में पत्ते में पत्थर में शराब घर में है मंदिर में है वैश्यालय में है सब जगह है अगर वो है और जब भी कोई देखने वाली आंख पैदा होती तो सब जगह दिखाई पड़ जाता है और अगर वो नहीं तो फिर आपके मंदिर में भी नहीं है और मस्जिद में भी नहीं है आपकी मूर्ति में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है क्योंकि जिस आदमी को वृक्ष में नहीं दिखता तारों में नहीं दिखता आकाश में नहीं दिखता फूलों में नहीं दिखता लोगों की आंखों में नहीं दिखता वो तो आदमी मंदिर की तरफ चला जा रहा है वो कह रहा मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ और भगवान चारों तरफ और जिसको यहाँ कहीं भी नहीं दिखता उसको मंदिर में दिख सकेगा असंभव है और जिसको दिखाई पड़ जाएगा यहाँ उसको कहीं मंदिर में जाने की कोई जगह रह गई गुंजाइश रह गई वो तो फिर जहां वही मंदिर है धार्मिक आदमी वो नहीं है जो मंदिर जाता है धार्मिक आदमी वो है जहां होता है वही मंदिर होता है धार्मिक आदमी जहां जीता है वही मंदिर है उठता है तो मंदिर में चलता है तो मंदिर में जीता है तो मंदिर में मरता है तो मंदिर में क्योंकि वो सब तरफ है तो सभी कुछ मंदिर सारा संसार उसका मंदिर है लेकिन नहीं धर्म गुरुओं ने छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं प्रतीक सब्स्टिट्यूट और उन्होंने उस तरफ हमारी आंखें लगा दी कि यहाँ खोजो यहाँ खोजो अब हम तेल से रेत निकाल रहे हैं हजारों साल से कुछ वो रेत से तेल निकलता नहीं अब हम कहने लगे कि नहीं तेल मिलना ही असंभव वो तिली से बहुत जल्दी से निकल आता है और रेत से कभी नहीं निकलता है लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि कठिनाई उसके निकलने की नहीं है कठिनाई हम रेत को लिए बैठे हैं इसकी मंदिरों मस्जिदों को लिए जब तक आदमी बैठा है तब तक परमात्मा पाना असंभव वो है जीवन में वो है सब में वो है समष्टि में उस तक कैसे जाया जा सकता है इन आने वाली चर्चाओं में मैं उसी दिशा में आपसे कुछ बातें करूंगा कोई नहीं जानता बात सुनते सुनते भी कुछ हो सकता है कोई नहीं जानता सत्य की एक किरण ख्याल में